टैक्सी में स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी बहार के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था सुबह का वक्त था और मुजस्मे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सुर्ख जर्द और सफ़ेद ट्यूलिप्स खिले थे फिजा में ताज़ा पके फलों की रसीली महक थी वो दोनों उस ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलती इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थीं दोनों ने स्याह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डाल रखा था वो इतनी दफ़ा इस्तकलाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो उन्हें हिफ्ज हो चुकी थीं उसके बावजूद वो आज तक उस तवील तरीन गली के अख्ताम तक नहीं पहुंच सकी थी उनके तमाम दोस्त और डॉर्म फेलोज कल ही अपने अपने टूर्स पे निकल चुके थे उन्होंने आज सारा दिन इस्तقلال स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह बस से कपादोकिया जाना था आज वो खूब भाव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाकर आई थी क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सयाहों के लिए तुर्क फौरन नर्क कम कर देते थे सात दिन सात शहर कितना मज़ा आएगा ना डीजे ने चश्मे तसव्वुर से खूबसूरत तुर्की को देखते आंखें बंद करके खोली मजा तो छोटा लफ्ज डीजे मुझे तो खुद पर रश्क आने लगा है क्या जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है वो दोनों इस्तقلال स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी वहां हमेशा की तरह रश था दोनों अतराफ में बने रेस्टोरेंट और दुकानों की रौनक उरूज पर थी तुर्की का नक्शा हमारे पास है हम रोज एक शहर जाएंगे एक रात उधर क्याम करेंगे और फिर वहां से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे यूं सात दिनों में हमारे सात शहर हो जाएंगे और कपादोकिया में हॉट एयर बैलून की फ्लाइट भी लेंगे कितना मजा आएगा हया जब हम बैलून की टोकरी में बैठे ऊपर फिजा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा वो दोनों बहुत जोश और जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थी एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था डीजे ने गर्दन मोड़कर उसे देखा सुनो हया जिहान को भी साथ चलने को कहे उसका तो नाम भी मत लो वो सीध में देखते हुए आगे चलती गई अभी वो उसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी यार माफ कर दो ना वो किसी और बात पे अपसेट होगा मगर मैं उसी बात पे अपसेट हूँ कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की वो उसे बाजू से ज़रा खींच कर आगे ले गई मेरा माइग्रेन सारा ट्रिप खराब कराएगा टैबलेट ली थी मगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर फ़ोन कराएगा उसने कोट की जेब से हाले का भद्दा तुर्क फ़ोन निकाल कर मायूसी से उसे देखा इसकी बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती है वहां दूसरे शहर में पता नहीं क्या हालात हो मैं अपने पाकिस्तानी फ़ोन को रजिस्टर करवा ही लेती हूँ ठीक है मगर पहले जूते देख लें वो दोनों एक शूज स्टोर का दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई दरवाज़ा ज़रा भारी था मुश्किल से खुला हया अचंभे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई अजीब बात थी कि जिस अगली दुकान पे वो गई उसका दरवाजा भी जोर लगाकर धकेलने पे पीछे हुआ आज इस्तकलाल जदेसी के दरवाजों को क्या हुआ है डीजे भी महसूस करके जरा हैरत से बोली एवीए की दुकान इस इस्तकलाल स्ट्रीट में जरा आगे जाकर मिली वो दोनों इकट्ठी चौकट तक आई और लाशौरी तौर पे एकदम बहुत जोर से दरवाजे को धक्का दिया वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ सिमट में खड़े स्टैंड से टकराया और जोरदार छनाके की आवाज़ आई लोहे के स्टैंड का कोई हुक निकला हुआ था उसकी जरब जोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पे आ गिरे वो दोनों एकदम साकित सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थी काउंटर के निचले दराज से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर ऊंचा किया टूटे दरवाजे को देखकर उसका मुंह पूरा खुल गया वो हक्का बक्का सा उठ खड़ा हुआ कॉपी कर दी उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया डीजे का सकता पहले टूटा वह हया के करीब खिसकी और होले से सरगोशी की हया उसने हमें दरवाजा तोड़ते नहीं देखा बस ठीक है हम मुकर जाते हैं वो गला खंकारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फोन उसकी तरफ बढ़ाया फोन रजिस्टर करवाना है कॉपी कर दी मादाम वो फोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की जानब इशारा करते हुए पूछ रहा था मुझे फ़ोन रजिस्टर करवाना है कॉपी कर दी डीजे ये क्या बक रहा है वकूफ से डीजे की तरफ पलटी उसे غالबा इंग्लिश नहीं आती है और ये दरवाजे के बारे में ही पूछ रहा है देखो भाई वो आगे हुई और काउंटर पे कोहनी रखे बड़े एतमाद से बोली हमने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाज़ा देखा ही नहीं था बिल्कुल हमने तो कभी दरवाजे देखे ही नहीं हैं। हमारे यहाँ घरों में दरवाजे होते ही नहीं लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं मगर उनकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी वो अब सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा तुर्क शदीद गम में यही करते थे अच्छा मेरा फोन रजिस्टर कर दो लड़का चल लम्हे गमगीन वकीना परवर निगाहों से उसे देखता रहा फिर हाथ आगे बढ़ाया पसपोरथ उन दोनों ने एक दूसरे को जरा तशवीश से देखा यह पासपोर्ट सिर्फ फोन के लिए मांग रहा है नहीं यह हमें अंदर करवाएगा दीजिए इसे पासपोर्ट नहीं देना वरना उसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा पासपोर्ट नहीं है हमारे पास डीजे ने हाथ हिलाकर जोर से कहा वह हया से चंद कदम पीछे थी पासपोर्ट उसने बाजू बढ़ाए फिर से पासपोर्ट मांगा कहा ना नहीं है हमारे पास पासपोर्ट हया हाँ झिंझलाए हुए अंदाज में कह रही थी पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते देखो हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे एम्बुलेंस एम्बुलेंस वो अपनी धुन में कही जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा उसने नासमझी से उसे देखा फिर उसकी निगाहों के ताकुब में गर्दन मोड़ा हया हया पीछे खड़ी खदीरा सर दोनों हाथों में अवस्था में ओंधी गिरी जा रही थी उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी लड़का भागकर काउंटर से काउंटर के पीछे से निकला डीजे डीजे वो हजियानी अंदाज में चीखते हुए उसकी तरफ लपकी उसके ऐनक फिसल कर फर्श पे जा गिरी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते लड़के का जोगर उस पर आया कड़च की आवाज आई और एक शीशा दो हिस्सों में बढ़ गया डीजे वो उस पर झुकी दीवाना वार उसे पुकार रही थी डीजे की आंखें बंद हो रही थी सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह था सफेद बेजान ठंडा वो बेंच पे बिल्कुल सीधी बैठी थी साकित जामिद सीध में किसी गैर मरे नुक्ते पे निगाहें मरकूज किए उसकी आंखों से आंसू मुसलसल टूट टूट कर गिर रहे थे जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी वो यूं ही उधर बैठी थी ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था कि खतीजा के ब्रेन में बेरी एनोरिज्म थी एक फूली हुई एनोरिज्म जो फट गई थी सब ऑर्गेनाइज्ड हेमरेज डॉक्टर ने कहा था कि बेरी एनोरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90 फीसद की मौत वाक़ हो जाती है कम से कम भी 10 फीसद की उम्मीद थी और वो उसे 10 फीसद उम्मीद को थामे वहां बेंच पे बैठी हुई थी उसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था जैसे भारी सिल से सर को कुचल दिया गया हो फिर भी उसने कहीं से हिम्मत जमा करके बीजे के घर वालों को पाकिस्तान फोन कर दिया उसके बाप भाइयों की परेशानी माँ के आंसू वो कुछ नहीं समझ पा रही थी उसके अबू तुर्की आने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा बस उसकी समझ में यही बात आई थी बार बार कोई ना कोई उसे फोन करता और वो हर बात के जवाब में भीगी आवाज से इतना कह पाती मुझे नहीं पता डॉक्टर बाहर नहीं आए हैं अब वो यूं ही निढाल सी बेंच बैठी थी आंसू लड़ियों की सूरत उसकी आंखों से गिर रहे थे दस फीसद की उम्मीद उसने गोद में रखे मोबाइल को देखा फिर उठाकर कपकपाते हाथों से पैगाम लिखने लगी मैं टाक्सिम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ डीजे को ब्रेन हेमरेज हुआ है तुम फौरन आ जाओ और जिहान को भेज दिया उनके दरमियान अगर कोई तलखी थी भी तो उसे याद नहीं थी अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा अजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वजू करके वापस उधर आई कोट उसने वहीं बेंच पे छोड़ दिया था अब नीली कमीज की आस्तीन गीले बाजू पे नीचे कर रही थी चेहरा हाथ और माथे से बाल भी वैसे ही गीले थे क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है इससे भी जल्दी गुजर जाती है चंद रोज कबल की दो लड़कियों की गुफ्तगू उसे याद आई वो सलाम फेर कर तशाहुद की हालत में बैठी थी उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था और ये वजू का पानी नहीं था वो दोनों हथेलियाँ मिलाए उन्हें डुबडुबाए आंखों से देख रही थी मेरे अल्लाह वो बे आवाज़ रो रही थी आपको पता है डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी सबसे अच्छी दोस्त इरम जारा इन सबसे अच्छी दोस्त आप उसे हमसे मत छीने उसके माँ बाप वो बूढ़े हैं वो मर जाएंगे आप हमें ऐसे मत आजमाएं आप हमें डीजे वापस कर दें मेरी दस फीसद की उम्मीद को हारने मत दें वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए होले होले लरज रही थी शिफॉन का नीला दुपट्टा सर से फिसल कर गर्दन की पूछ तक जा गिरा था मैं बहुत अकेली हूँ मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है खटखटाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है मेरी पहली उम्मीद भी आप हैं आखिरी भी आप हैं अगर आपने मेरी मदद ना की तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकेगा अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा और अगर आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकेगा आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस लौटा दें आप डीजे को ठीक कर दें उसके दिल पे गिरता हर आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था जलता सुलगता हुआ दाग उसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था अल्लाह ताला मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मांग सकूं और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके मेरी एक दुआ मान ले मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस लौटा दें मैं हर वो काम करूंगी जो आपको राज़ी करे और राज़ी रखे मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करूंगी आप डीजे को ठीक कर दें प्लीज़ वहां तो मैं चेहरा छुपा कर फूट फूट कर रो रही थी वो जिंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आज थी वो कभी इतनी बेबस इतनी लाचार भी नहीं रही थी जितनी उस वक्त थी कितने घंटे गुजरे कितनी घड़ियां बीती उसे कुछ याद नहीं था बस अंधेरा छा रहा था जब उसने ध्यान को तेज तेज कदमों से चलते अपनी तरफ आते देखा वो खड़ी भी नहीं हुई बस बेंच पे बैठी गर्दन उठाए खाली खाली नजरों से उसे देखी गई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अब कैसी है वो हुआ क्या था वो फूली सांसों के दरमियान कहते हुए उसके साथ बैठा वो उतना ही परेशान था जितनी वो बैरी एनोरिज्म फट गया था जिसके नतीजे में सब ऑर्गनाइट हैमरेज उसे खुद जो समझ में आया था वो बताने लगी बताकर वो फिर से दोनों हाथों में सर दिए रोने लगी वो ठीक हो जाएगी तुम ऐसे मत रो तुमने कुछ खाया है तो मुझे ठीक नहीं लग रही मैं कुछ लाता हूँ फिर वो रुका नहीं तेजी से उठकर चला गया जब वापस आया तो उसके हाथ में सैंडविचेस का पैकेट और जूस की बोतल थी कुछ खा लो उसने सैंडविच निकाल कर उसकी जानी बढ़ाया मुझसे नहीं खाया जाएगा वो नफ़ी में सर हिलाने लगी उसी पल ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले वो तड़प कर उठी मैं देखता हूँ उसे वहीं रुकने का कहकर वो आगे गया और बाहर आने वाले सर्जन से तुर्क में बात करने लगा वो बेकरारी से खड़ी उन दोनों को बातें करते देखी गई ओके ओके सर हिलाकर बात ख़त्म करके वो वापस उसकी तरफ आया क्या कह रहा था डॉक्टर कैसी है डीजे वो आराम से है अभी उसे शिफ्ट कर देंगे मगर तुम ठीक नहीं हो इधर बैठो उसे वापस बेंच पे बिठाकर उसने सैंडविच उसकी तरफ बढ़ाया ये खाओ ओ जिहान वो ठीक है मेरी दुआ कबूल हो गई उसने निढाल से अंदाज में सर दीवार से टिका दिया कुछ खा लो आया उसके इसrar पर उसने मुश्किल आधा सैंडविच खाया और थोड़ा सा जूस पिया फिर बोतल परे हटा दी जिहान मेरी दुआ रद्द नहीं हुई मैंने इतनी दुआ की थी ये कैसे हो सकता है कि कोई इतनी दुआ करे और वो पूरी ना हो वो खोए खोए अंदाज में दूर खलाओं में देखते हुए कह रही थी हया थोड़ा सा और खा लो वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी नहीं तुम्हें पता है मैंने कभी इतनी दिल से दुआ नहीं मांगी जितनी आज मांगी थी फिर ये कैसे हो सकता है कि वो पूरी ना होती उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे वो खामोशी से उसे देख ही गया अब वो मजीद कुछ नहीं खाएगी उसे अंदाजा हो चुका था वो अब सामने दीवार को देखते हुए बहते आंसू के दरमियान कह रही थी तुम्हें पता है इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी जिहान मगर बाज दफा किस्मत हरा दिया करती है वो बहुत धीरे से बोला तो वो चौंकी जिहान उसे ही देख रहा था एकदम उसका दिल डूब कर उभरा जिहान हाया डीजे की डेथ हो गई है कॉरिडोर का सन्नाटा एकदम से टूटा पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर के पहियों के चलने की आवाज़ें आई थीं वो बिना पल झपके जिहान को देख रही थी हाथ में पकड़ी टूटी ऐनक पे उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी पसीने में भीगी हथेली से ऐनक के शीशे पे धुंध छाती जा रही थी ठंडी गीली धुंध मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं लेकिन चूंकि आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं इसलिए मुझे खतीजा ही कहें शाम की धुंधली सी चादर ने पूरे इस्तांबुल को अपनी लपेट में ले रखा था दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान इतना खुलकर बरसा था कि लगता था सारी दुनिया बह जाएगी सब डूब जाएगा वो तब से उसी तरह पुप्पो के लाउंज के सोफे पे पांव ऊपर करके बैठी घुटनों पे सर रखे रोए जा रही थी एवं ही सामान गुम हो जाए हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना उसकी आंखों के सामने डीजे का आखिरी चेहरा जैसे सबत हो गया था वो मंजर यूं हर जगह छाया था कि और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था बेजान चेहरा जैसे सारा खून निचुड़ गया हो बंद आंखें स्ट्रेचर पे डाला बेहिसो हरकत वजूद वो उस मंजर में मुकैद हो गई थी एवं ही बर्फ ना पड़े खुद तो बर्फबारी देख देख कर उकता चुके हमें तो देखने दे उसी रात डीजे का भाई पहुंच गया था और दो दिन तक क्लियरेंस मिल गई थी आज दोपहर वो उसकी मैयत लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए थे तब उसे जहान और फूफो अपने साथ ले आए थे वो उस वक्त से यूं ही बैठी थी ना खाती थी ना कोई बात करती थी बस रोए चली जा रही थी उसका गम बहुत बड़ा था सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते हैं मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है सारे दिन में अगर उसने कोई बात की थी तो ये थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है मेरी सीट बुक करवा दें मैंने इधर नहीं रहना किचन में जहान और पुप्पो खड़े यही बात कर रहे थे उनकी दबी दबी आवाज़ें उस तक पहुंच रही थी मगर वो नहीं सुन रही थी मगर मैं कैसे जाता हूं जा सकता हूँ उसके साथ और वो अकेली कैसे जा सकती है उसे कल से बुखार है हालत देखी है तुमने उसकी मैं उसे अकेला भेजूँ तो अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी मगर मम्मी आपको अब्बा का पता है ना उन्हें इल्म हुआ तो उन्हें यह बताएंगे कि तुम अनकरा तक गए हो मगर मम्मी मेरा जाना ज़रूरी तो जिहान सिकंदर जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया तुम कल सुबह की फ्लाइट से हया के साथ जा रहे हो वो उसी तरह घुटनों में सर दिया रो रही थी इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे नहीं पता था उसका दिल ऐसे बुरी तरह टूटा था कि हर शहर से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल उसने कौन से जाकर चेक कर लेना है थोड़ा सा छू मारने में हर्जी क्या है जब पुप्पो ने आकर बताया कि ध्यान उसके साथ जाएगा चाहे जितने दिन भी लगे तो भी उसने कोई जवाब नहीं दिया उसे फिलहाल जहान सिकंदर से कोई सरोकार ना था वैसे तुम्हारी पुप्पो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है तुम्हारी चमक दमक देखकर यह ख्याल आया हर चीज जैसे स्लो मोशन में हो रही थी आवाजें बंद हो गई थी सिर्फ हरकत दिखाई दे रही थी वो अता तुर्क एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी उसके साथ कोई और भी चल रहा था मगर वो उसे नहीं देख रही थी रहने दोहाया मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला जहाज धीरे धीरे महवे परवास था खिड़की के पार मरमरा के समुंदर पे बादल तैरते दिखाई दे रहे थे नरम रुई के गालों की तरह सुरमई बादल उनमें इतना पानी लदा था जितना उसकी आंखों में था या शायद उसके आंसू ज्यादा थे इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम अज कम मैं तैयार नहीं हूँ ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो उसने खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने से लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया वो उसका सर थपकते हुए कुछ कह रहे थे कुछ ऐसा कि बस अब वो उनके पास रहेगी अब वो उसको वापस कहीं नहीं भेजेंगे चीजें वक्ती होती हैं टूट जाती हैं बिखर जाती हैं रवैये दायमी होते हैं सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी वहां हर तरफ कोहराम मचा था उसकी अम्मी और बहनों का बिलक बिलक कर रोना मातम बहन सिसकियों की आवाज़ें चीखें जवान मौत थी और गोया पूरी दुनिया उधर इकट्ठी हो गई थी वो किसी को दिलासा ना दे सकी बस एक कोने में बैठी बेआवाज रोती गई अच्छा फिर सोच लो वो अब भी शादीशुदा है नमाज जनाजा पिछले रोज ही अदा की जा चुकी थी मगर गम अभी पुराना नहीं हुआ था खतीजा की बहनें उससे उसके बारे में पूछती थी मगर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी सारी बातें ख़त्म हो गई थी दुनिया बर्फ का ढेर बन गई थी मरमरा के समुंदर पे तैरती बर्फ का ढेर क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है इससे भी जल्दी गुजर जाती है हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है इख्तिताम द एंड बाप पाँच सुर्ख सनोबर के ऊंचे درختوں के درمیان हवा सरसराती हुई गुजर रही थी वहाँ हर सू घना जंगल था ऊंचे درختوں के पत्ते सुनहरी धूप को मिट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे दोपहर के वक्त भी उधर ठंडी मीठी सी छाया थी बाहर उसी छाया में इधर उधर बागती बबूल के सफेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी आयशे गुल एक दरख्त तले जमीन पर बैठी सामने फैले कपड़े पर रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में पिरो रही थी करीब ही एक कटा हुआ तना गिरा पड़ा था जब बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आयशे के पास आई आयशे सफेद फूलों से भरी टोकरी उस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए उसने पुकारा हम्म उसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया सफ़ीर तुमसे लड़ क्यों रहा था वो खाली टोकरी रख कर उसके सामने आलती पालती मार कर यूं बैठ गई कि अब दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था लड़ नहीं रहा था अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था भारी दोनों हथेलियों पर चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशे ने मुस्कुराकर सर झटका जब इंसान दूसरों की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है तुम्हें पता है ना उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी उसके पाकिस्तानी कज़न से तय कर दी है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता क्यों नहीं करना चाहता उसकी मर्जी नहीं होगी उसने सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा धागा खींचता चला आया फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी शादी मर्जी से होती है ना हाँ वह भारे के सफेद फूलों के हाथ से उधर उधर टटोल रही थी फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुल रहमान से शादी करूंगी फूलों को समेटता उसका हाथ रुका उसने एक खफा सी निगाह बहारे पे डाली बुरी बात बहारे गुल अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती मगर मैंने अब्दुल रहमान को कह दिया था वो एकदम ठटक कर रुक गई और बेयकीनी से उसे देखा क्या कहा तुमने उसे यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा तो उसने क्या कहा उसने कहा तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई फिर वो सांस रोके सुन रही थी मैंने कहा आयशे गुल ने रवानी से बोलती बाहर यक लख्त अटकी क्या वो शशदर रह गई तुमने उसे झूठ बोला तुमने वादा किया था कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगी खुदाया वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में उसने तासुब से माथे को छुआ भारी लापरवाही से शाने उचकाए मगर उसे पता चल गया था उसने कहा आयशा गुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा उसके बाद पे आयशा के तने हुए आसार ढीले पड़ गए एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे बिखर गई वो होली से सर झटक कर फूल उठाने लगी मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना वादा अब नहीं बोलूंगी हर दफा अल्लाह से वादा करती हो वो हर दफा तुम्हें एक और मौका दे देता है मगर तुम फिर वादा तोड़ देती हो इतनी दफा वादा तोड़ोगे तो वो तुम्हारे वादों का एतबार करना छोड़ देगा आइंदा मैं सच बोलूंगी अब की बार मजबूत वाला वादा चलो ठीक है वो मुस्कुरा दी अब तुमने हमेशा सच बोलना है क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता सी गर्ल्स का गौल फड़फड़ाता हुआ उनके ऊपर से गुजरा आयशे ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा वो परिंदे यकीनन पूरे ब्यूकदा का चक्कर काट कर अब समुंदर की तरफ महवे परवास थे आयशे गुल चंद लम्हे उन परिंदों की पंख की मानिंद उड़कर बादलों में गुम हो गए तो बहारी ने पुकारा बोलो वो गर्दन झुकाए अपनी लड़ी में अब सुर्ख फूलों की आगे सफेद फूल पिरो रही थी तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना एक बात बताओगी बाहर ज़रा डरते डरते कह रही थी पूछो अब्दुल्ला की बहन किसी को कह रही थी कि ब्यूकदा की पुलिस बहुत बुरी है वो रहमान पाशा को कुछ नहीं कहती और ये कि वो जजीरा का सबसे बुरा आदमी है आयशे क्या रहमान वाकई बुरा आदमी है वो रुक रुक कर तजब्दुब से पूछ रही थी आयशे सांस रोक के उसे देख रही थी बाहर खामोश हुई तो उसने ज़रा सर खफगी से सर झटका नहीं वो बहुत अच्छा आदमी है अब्दुल्ला की बहन को क्या पता और तुमने किसी से जाकर अब्दुलरहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी तुम्हें अपना वादा याद है ना बाहर ने गर्दन अजबात में हिला दी मुझे याद है आयशे धागा तांत से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों के आपस में गिराह लगाने लगी उसके चेहरे पे वाजे उदासी बिखरी थी वो सपहर में खतीजा के घर से वापस आई थी कुछ देर कमरे में लेटी रही सर दर्द से फटा जा रहा था बुखार भी हो रहा था और नींद थी कि आ ही नहीं रही थी बंद कमरे में घुटन होने लगी तो वो घबरा कर उठी और खिड़कियों के पर्दे दोनों हाथों से हटाए सामने लॉन में कुर्सियों पर अब्बा अम्मा और ताया फुरकान और सायमा ताई चाय पीते नजर आ रहे थे मेज पे स्नैक्स और दीगे लवाजमात रखे थे और वो लोग बातों में मगन थे सायमा ताई बहुत सलीके से सर पे दुपट्टा जमाए फातिमा के चेहरे की तरफ किए कुछ कह रही थी फातिमा ताया फुरकान के सामने सर पे दुपट्टा ले लेती थी जो पीछे कीचड़ तक ढलक जाता था उनकी आंखें हया जैसी थी और लोग कहते थे कि बीस साल बाद हया ऐसी ही होगी और अब वो सोचती थी कि पता नहीं बीस साल बाद वो होगी भी या नहीं वो शावर लेके सादा सफ़ेद ट्राउज़र पे टखनों को छूती सफ़ेद लंबी कमीज पहने हम रंग दुपट्टा सर पे लपेटे बाहर आई पहले असर की नमाज़ पढ़ी कि नमाज़ें इन तीन दिनों में करीबन सारी पढ़ रही थी खतीजे के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करके वो उठी और फिर दुपट्टा शानों पर फैलाए बालों को खुला छोड़े किचन की तरफ आ गई फातिमा फ्रिज से कुछ निकाल रही थी उसे आते देखा तो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके मुस्कुराती हुई इसकी तरफ आई शानों तक आते बालों को केचर में बांधे वो आम हुलिए में बहुत जाजिबे नज़र लगती थी मेरा बेटा उठ गया उन्होंने उसे गले लगाया फिर माथा चूमा जी वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गईं बस सब्र करो अल्लाह की चीज़ थी अल्लाह ने ले ली सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने को ना कहता अम्मा हर शख्स खुद ही कर लेता मगर मैं कोशिश करूँगी गुड अच्छा बाहर आ जाओ ताया ताई मिलने आए हैं मुझसे हाँ और जहान से भी ओ हाँ किधर है वो उसे याद आया कि वो भी साथ आया था बस खाना खाकर सो गया था जाहिर है थका हुआ था अभी मैंने देखा तो उठ चुका था कह रहा था बस आ रहा हूँ वैसे सबीन का बेटा ज़रा वो कहते हुए झिटकी ज़रा प्राउड सा है नहीं नहीं वो शुरू में यूं ही रिजर्व सा रहता है और बाद में हया हाँ, ने गहरी सांस ली बाद में भी ऐसा ही रहता है इस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है वो बाहर आई तो उसे देखकर ताया फुरकान मुस्कुराए वो झुककर उन दोनों से मिली इतने दिनों बाद मिला हूं अपनी बेटी से और वो भी ऐसे मौके पर तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ अल्लाह उसकी मगफिरत करे आमीन वो सर के असबात के साथ ताज़ियत वसूल करती कुर्सी खींच कर बैठी हुआ क्या था उसे साइमर ताई ने इज़ारा हमदर्दी से पूछा ब्रेन हेमरेज चंद लम्हे के लिए मलाल ज्यादा खामोशी छा गई जिसे बरामदे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने चीरा वहां से फातिमा बाहर आई थी और उनके अकब में जहान भी था उसने स्याह ट्राउज़र जिसके दोनों पहलू पे लंबी सफ़ेद धारी थी के ऊपर बाजूओं वाली सुरमई शर्ट आधे बाजूओं वाली सुरमई टी शर्ट पहन रखी थी आंखें खुमार आलूद थी जैसे अभी सोकर उठा हो चेहरा और सामने के बाल गीले थे वो शायद पानी के छींटे मारकर तौलिया से खुश्क किए बिना ही बाहर आ गया था उसे आते देखकर सब उसकी तरफ मुतवजह हो गए वो लॉन के दहाने पे पहुंचा तो लम्हे भर के लिए ज़रा तजब्जुब से घास को देखा फिर एक निगाह सामने बैठे अफराद के कदमों पर डाली जो जूतों में मुकैद थे फिर ज़रा झिझक कर घास पर चलता हुआ उन तक आया हया जानती थी कि वो क्यों झिझका है तुर्की में घास पे जूतों से चलना सख्त मायूब समझा जाता था और वो मौका मिलने पे वो और डीजी अपनी दिली तस्कीन के लिए घास पे ज़रूर जूतों से चल कर देखती थी शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने उससे मिलकर रस्मी अंदाज में सबका हाल अहवाल पूछ कर ताया फरकान ने घनी मूंछों तले मुस्कुराते हुए कहा था थैंक्स वो रस्मन कभी नहीं मुस्कुराया और उसी सर्द अंदाज में कहता हया के मुकाबले कुर्सी खींच कर बैठा वो यहाँ आने पर कतन राजी ना था वो जानती थी सबीन ने तो गोया कसम खा रखी है कि हमें अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने देगी उसे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का उसके लिए दिए से अंदाज का असर था कहताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे ज़रा सी चुभन दराई मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना ज़रा ऑकवर्ड लग रहा था सो मुझे आना पड़ा बगैर किसी लगी लिपटी के उसने कह डाला मंगेतर मंकुहा के अल्फाज तो दूर की बात उसने तो मेरी कज़न तक नहीं कहा था गोया रिश्तों की हदूद واضح की سلیمان साहब के माथे पर ज़रा सी शिकन उभर आई और सायमा ताई के लबों को एक मानखेज मुस्कुराहट ने छू लिया हाँ या बिल्कुल ताल्लुक सी लॉन की क्यारियों में उगे फूलों को देखने लगी वो और डीजे हमेशा टाक्सिम पार्क से फूल चुराने की कोशिश करते थे मगर पार्क का केयर टेकर उन पर बड़ी सख्त निगाह रखता था और तुम्हारी मम्मी कब आएंगी सुलेमान साहब ने चाय का घूट भरते हुए पूछा मम्मी की भतीजी और तुम्हारी मम्मी उसके घर के मर्द आज बहुत तोल तोल कर अल्फाज अदा कर रहे थे कुछ कह नहीं सकता उसने शाने उचका दिए जिहान जूस लोगे या चाय या फिर कॉफ़ी फातिमा ने चाय के कप खाली कप ट्रे में रखते हुए उसको مخاطब किया वो मर्दों की बनिस्बत उसको दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही थी बस एप्पल टी बहुत है उसने रवानी में कह दिया मगर फातिमा की आंखों में उभरती ना समझी देख कर लम्हे भर को मुतजब्जब हुआ फिर फौरन तसी की बस चाय फातिमा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और ट्रे उठाए अंदर की तरफ बढ़ गई तो बेटा आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई साइमा ताया बहुत मीठे लहजे में पूछ रही थी वो हर किसी के लिए इतनी मीठी नहीं होती थी कुछ था जो उसे चौंका गया था जी अब तो काफ़ी अरसा हो गया फिर क्या कर रहे हो आप मेरा इस्तकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट है वही देखता हूँ जवाबन साइमा ताई ज़रा हैरान हुई अलबत्ता ताया फुरकान ने मताना से सर हिलाते अपने तासुरात छुपा लिए वो जानती थी कि वो लोग इस्तलाल स्ट्रीट की कीमती ज़मीन की अहमियत को नहीं समझते इसलिए मुतासर नहीं हुए और गो के वो अपनी की तोड़ना नहीं चाहती थी फिर भी धीरे से बोली थी इस्तलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट का मतलब है लाहौर की एम एम आलम रोड पे दो रेस्टोरेंट्स वो कहकर कियारियों को देखने लगी ओह अच्छा गुड उनके तासुरात फ़ौरन ही बदले थे वालिद साहब की तबीयत कैसी है अब जी ठीक है वो मुख्तसर जवाब दे रहा था तभी फातिमा उसका चाय का मग ट्रे में लिए चली आई कुछ लो ना बेटा तुमने कुछ लिया ही नहीं जी मैं लेता हूँ उसने मग उठा लिया मगर दूसरी किसी शय को छुआ तक नहीं ताया फुरकान और सामत आई इधर उधर की छोटी छोटी बातें करके जल्दी उठ के चले गए अलबत्त जाते वक्त वो रिहान के लिए दिए जाने वाले आज रात के डिनर पे सबको मधु करके गए थे तुम्हारी छुट्टी कब तक है उनके जाने के बाद सुलेमान साहब ने ध्यान से पूछा बस यही चार दिन फिर तुम अपनी फ्लाइट बुक करवाना तो हया की मत करवाना वो वापस नहीं जाएगी हया ने चौंक कर अब्बा को देखा ओके ध्यान ने एक सरसरी नज़र उस पर डालते हुए शाने उचका दिए मगर अब्बा हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो एकदम बहुत परेशान हो गई थी मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दूंगा कॉन्ट्रैक्ट की फ़िक्र छोड़ दो और मेरा मजीद हौसला नहीं है तुम्हें बाहर भेजने का उस बच्चे का जनाजा भुगताया है मैंने इतनी दूर अकेली बच्चियाँ भेजना कहाँ की अक्लमंदी है कल को कुछ हुआ तो मगर अब्बा उसके ब्रेन में अंदर बहुत पहले से हया जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया उनका अंदाज इतना दो टोक और सख्त था कि उसे सर झुका दिया जी अब्बा जिहान लाताल्लुक से बैठा चाय के घुट भर रहा था उन दोनों ने एक दफा भी निगाहें नहीं मिलाई थी तायब फुरकान के पोर्च की बत्तियां रात की तारीकी में जगमगा रही थीं। वो और जिहान फातिमा के हमरा चलते हुए बरामदे की दरवाजे की तक आए सुलेमान साहब का कोई ऑफिशियल डिनर था सो उन्होंने माजरत कर ली थी दरवाजे के करीब जिहान रुका और झुककर बूट का तस्मा खोलने लगा फातिमा ने रुक कर से उसे देखा पाकिस्तान में जूते पहनकर घर में दाखिल होते हैं वो इतनी कबीदा खातिर और बेजार थी कि ध्यान से मुखातिब होने का दिल ही नहीं चाह रहा था फिर भी कह उठी ओह सॉरी वो ज़रा चौंका फिर जल्दी से तस्मे का गिरह लगाकर सीधा हुआ ये वो पहली बाजाबता गुफ्तगू थी जो पाकिस्तान आकर उन दोनों के दरमियान हुई थी तुर्की में जूते घर के बाहर उतारते हैं इसलिए वो रुका था उसने उलझी से खड़ी फातिमा के करीब सरगोशी करके वजह बताई फातिमा ने समझकर ओह कहा और आगे बढ़ गई डाइनिंग हॉल में बहुत पुरतकल्लुफ सा खाना सजा था साइमा ताई ने खूब एहतमाम करके एहतमाम कर रखा था जिहान बहुत मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा था कोई कुछ पूछता तो वो जवाब देता था और फिर खामोशी से खाने लग जाता इरम सोनिया भाभी और दावर भाई के उस तरफ बैठी थी फारूक की कॉल थी सो वो अस्पताल में था इरम हया से ज़रा रुखाई से मिली थी उसका खिंचा खिंचा और खामोश सा अंदाज हया को सारी वजह समझा गया उस रात वो यकीनन पकड़ी गई थी मगर हया ने उसे नहीं बचाया था सोताया के सामने उसका बोल खुल गया होगा इसीलिए वो हया की हया को उस सब का जिम्मेदार समझती थी मगर उसने असर नहीं लिया वो डीजे का सदमा इतना गहरा लिए हुए थी कि उसे अब इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था दावर भाई और ताया फुरकान जहान से तुर्की के मुतालिक छोटी छोटी बातें यूं ही सबील तस्करा पूछ रहे थे और वह नपे तुले जवाब दे रही थी और वह नपे तुले जवाब दे रहा था कभी तुर्की आए तो तुम्हारी तरफ जरूर आएंगे दावर भाई ने सोनिया की तरफ आइब्रो से इशारा करते हुए कहा सोनिया मुस्कुराई ताई ने फौरन दावर भाई को देखा मेरा मतलब है हम सब दावर भाई ने जल्दी से तस्सी की सोनिया ने सर झुका दिया श्योर जी ने हाँ, निशाने उचका दिए जैसे आप आए या नहीं आए मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे का क्या इरादा है तुम्हारा खाना दरमियान में था जब ताया फुरकान ने बहुत सरसरी से अंदाज में कहते हुए गोया पहला पत्ता फेंका हया ने जरा चौंक कर उन्हें देखा और फिर फातिमा को जो हया की तरह ही चौंकी थी जो बात इन दो माँ में वो खुद और इतने अरसे से उसके माँ बाप सबिन को ये ध्यान से नहीं पूछ सके थे वो ताया फरकान ने बड़े आराम से पूछ ली थी कुछ सरमाया जमा हुआ तो जवाहिर मॉल में एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा चमचे और कांटे से चावल प्लेट से उठाते हुए उसने जवाब दिया था तुम दावर से साल भर ही छोटे हो ना उसने उस बात में सर हिला दिया भाई दावर में तो अब मजीद इस्टेब्लिश होने के हक में बिल्कुल नहीं थे और साहबजादे का ये ख्याल था कि उस उम्र में फैमिली शुरू कर देनी चाहिए सो हमने उनकी शादी कर दी तुम्हारा क्या ख्याल है तायफुर खान चावलों की प्लेट में रायता डालते हुए पूछ रहे थे हालांकि हलक में निवाला फंसने लगा उसने झुका सर मजीद झुका दिया जहान ने ज़रा से कंधे उचकाए दावर के पास उसके वालिद का एस्टैब्लिश बिजनेस था सो वो इस पॉइंट पे शादी अफोर्ड कर सकता था उसने सलाद की प्लेट से खीरे का एक टुकड़ा अपनी प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया काम तो खैर तुम्हारा भी एस्टैब्लिश हो गया है मेरे ऊपर अभी काफ़ी कर्ज है वो ज़रा हल्का हो जाए तो ही कुछ सोचूंगा है ने गर्दन मजीद झुका ली क्या था अगर वो अपनी लैंड लेडी के कर्जे का जिक्र ना करता कुछ भरम तो रहने देता ये भी ठीक है इंसान उस वक्त ही शादी करे जब वो इस जिम्मेदारी को निभा सके जिम्मेदारी निभाना मुश्किल काम होता है हाँ अगर वालिदैन साथ थे तो ये मुश्किल आसान हो सकती है मगर यहाँ पाकिस्तान में तो अब अक्सर शादियों पर वालिदैन नाखुश होते हैं क्योंकि आजकल के बच्चे उनकी पसंद की अहमियत ही नहीं देते और अपनी मर्जी करते हुए उनके तय करदा रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं ये तो मेरे बच्चे हैं कि जो माँ बाप ने कहा उस पर राजी हो गए वरना तो उन्होंने माशरे पर एक तबसरा करते हुए तासुब से सर झटका सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला फातिमा की पेशानी पर नागवार से शिकने उभर आई थी मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी ताया बड़े थे उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता था वेल well, ये डिपेंड करता है जिहान ने कोल्ड ड्रिंक के ग्लास से छोटा सा घूट लेते हुए कहा मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्जी मुसलत ना करें तो चीज़ें ठीक रहती हैं सायमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई फातिमा के चेहरे पे एक तारीख सा साया लहराया और हया की गर्दन मजीद झुक गई भरे पंडाल में गोया उसकी बेजती कर दी गई थी ये भी ठीक है ताय फुरकान ने सर हिला के तायद की तुम्हारी वापसी कब है जवाब मिल गया सो बात बदल दी सोमवार की सुबह फ्लाइट है हया तो नहीं जा रही ना वैसे मेरा भाई मेरी तरह बुजदिल नहीं है बल्कि काफ़ी बहादुर है मेरी बेटी ने भी आकर उसी स्कॉलरशिप का कहा था मगर मैंने उसकी माँ से कहा कि उसे समझाओ अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क क्यों तनहे तनहा जाती है तो पूरा ख़ानदान उंगलियाँ उठाता है भाई बच्ची जितनी एहतियात करे लोग तो बातें बनाते हैं कि कोई एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है वहाँ अकेले बाहर आना जाना होगा किससे मिलती है किससे नहीं फिर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए बदनाम खैर वैसे तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है और तुम्हारी फैमिली साथ थी तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्री रहती थी उन्होंने कहते हुए मुस्कुरा कर हया को देखा जो खामोशी से प्लेट में धरे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी वो खा नहीं रही किसी ने महसूस नहीं किया हया तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए हैं साइमा ताई ने गुफ्तगु का रुख उसकी तरफ मोड़ा उसने ज़रा सी नफी में गर्दन हिलाई अभी देखूंगी उसे इल्म नहीं था कि अम्मा ने कपड़े बनवाए या नहीं चलो तुम तो रेडीमेड भी ले सकती हो आसानी हो जाएगी सारा मसला मेरी इरम का होता है दुपट्टा शिफॉन का ना हो पतला दुपट्टा सर पे ही नहीं टिकता आस्तीन बारीक ना हो और फिर जो अच्छा जोड़ा लगता है उसकी आस्तीनें ही गायब होती हैं तुम्हारी तो खैर है तुम तो सभी कुछ पहन लेती हो सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं बात ख़त्म करके उन्होंने एक नज़र जहान पर डाली वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था बस क्यों कर दी बेटा और लो ना खाना ठीक लगा तुम्हें जी मामी खाना तो बहुत अच्छा था बस ज़रा मिर्च ज़्यादा थी वो पहली दफ़ा कदरे मुस्कुरा कर बोला जहाँ ताई की मुस्कान फीकी हुई वहां सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही और आंख खुली भी तो मोबाइल की आवाज़ से उसने मंदी मंदी से आंखें खोली और साइड टेबल पर रखा अपना पाकिस्तान पाकिस्तान में मोबाइल उठाकर देखा वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था उफ ये फिर पीछे पड़ गया और उसे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा हेलो उसने कोहनियों के बल उठते हुए फोन कान से लगाया वेलकम बैक कैसी हैं आप वही धीमा खूबसूरत गमगीर लहजा उसकी पेशानी पे बल पड़ गए क्यों फ़ोन किया है आपने आपकी दोस्त का सुना था बहुत अफसोस हुआ आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी मुझे फ़ोन मत कीजिएगा आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं आप अगले बंदे की पूरी बात क्यों नहीं सुनती मुझे कहना तो दें जो मुझे कहना है उसे जैसे गुस्सा आया था देखें मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हैं और यह भी कि आपका मेरे ख़ानदान से क्या इशू है मगर बात जो भी है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है आप आइंदा फ़ोन करेंगे भी तो मैं नहीं उठाऊंगी खुदा हाफिज उसने ज़ोर से बटन दबाकर फ़ोन बंद कर दिया और तकिए पे उछाल दिया पता नहीं कौन सा गुनाह था उसका जब वो शख्स उसके पीछे पड़ गया और अपने साथ बहुत से मसले उसके पीछे भी लगा दिए शाम में फातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज़ होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ्रॉक पहनने पर राज़ी हुई जो रंग के फ़र्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे उसका कतन तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था मगर फातिमा ने उसकी एक नहीं सुनी जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते फिर लोगों को खुद पे तमस्कुर करने का मौका क्यों दें फ्रेश होकर जाओ वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई किस्सा तो बना देंगी लंबा अनारकली फ्रॉक गहरे सब्ज रंग का था और उस पर दबके का सिल्वर काम था साथ में सोनिया भाभी ने उसको अपना सब्ज और सिल्वर परांदा बांध दिया था कि सब लड़कियां परांदे पहन रही थीं सिल्वर टीका भी सोनिया ने ही उसकी पिशानी पर सजाया मगर किसी भी किस्म के सिंगार के लिए वो कतन राजी न थी अच्छा काजल तो डाल लो सोनिया उसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उसे काजल थमाना चाह रही थी मगर उसने चेहरा पीछे कर लिया वो उस वक्त आया फुरकान के घर में थी सीढ़ियों से नीचे लाउंज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी महविश और सहरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी उसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था सोनिया का अपनी बरी का था हल्का गुलाबी नहीं रहने दे भाभी उसने बदली से चेहरा पीछे हटाया चांदनी के गोल टीके ने धुले धुलाए चेहरे को सजा दिया था सोनिया तासुब से सर झटक कर गोया उस पर मातम करती सीढ़ियां उतर गई उसने एक आखिरी निगाह दीवार पे आवेज आईने पे डाली कामदार सब दुपट्टा कंधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाएं बाजू से आगे को निकाल लिया और पलटकर सीढ़ियां उतरने लगी तभी उसने जहान को देखा वो सबसे लाताल्लुक सा अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ता सामने से चला आ रहा था फातिमा उसके लिए दो तीन कुर्ते लेकर आई थी और उस वक्त उसने उनमें से एक स्याह वाला कुर्ता जेबतन कर रखा था जिसके गले पे सुनहरे धागे का काम था आस्तीन कोहनियों तक मोड़े वो शायद कोई मैसेज लिख रहा था वो सहज सहज कर बारीक हिल से जीरे उतरने लगी टैक्सी वाला वाकई उसे नहीं भूलता था वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जिहान ने सर उठाया एक लम्हे के लिए रुक कर उसे देखा फिर उसकी तरफ आया हया वो आखिरी जीने पे एक हाथ रेलिंग पे रखे ठहर सी गई मैंने सोमवार की फ्लाइट बुक करवाई है तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना तुम वापस नहीं जा रही राइट लातालुक से अंदाज में वो महज काम की बात पूछ रहा था उसके गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा नहीं मैं वापस नहीं जा रही अब्बा एक दफ़ा फैसला कर ले तो फिर वो उसे नहीं बदलते वो आखिरी जीना उतर कर उससे चंद कदम के फासले पर खड़ी हुई ओके वो शाने उचकाते हुए पलटने ही लगा था कि सना उसी पल कैमरा लिए उसके सामने आ गई एक मिनट जहान भाई यहीं खड़े रहें मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूं खुश दिली से कहते हुए उसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया जिहान ने ज़रा चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदरे नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया सना जो फोकस कर रही थी ज़रा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे किया किसी की पिक्चर बनाने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए लब भीचे ज़रा दृष्टि से कहकर वो आगे बढ़ गया सना का रंग मान पड़ गया उसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा उसने पलट कर राहदारी की सिम देखा जहां वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका मेरी तौबा जो कभी इनकी तस्वीर बनाऊं या इनसे बात भी करूं वो खौफगी से बड़बड़ाते हुए आगे चली गई हया ने उंगली की नोक से आंख का बीघा कोशा साफ किया और सर को खफीफ से जुम्बिश देकर आगे बढ़ गई उसके पास रोने के लिए बहुत से गम थे मेहंदी का फंक्शन जाहिर चाचा के लॉन में ही मुनद किया गया था लॉन काफ़ी खुला और वसी था सो कनातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई थी बाकी अतराफ खुली रखी गई जहां हर सू दीवारों पर लड़ियों की सूरत बत्तियां जगमगा रही थीं स्टेज पर रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से आरास्ता किया गया था महविश पे महविश उस पे किसी मलका की शान से बैठी थी उसका अनारकली फ्रॉक बाकी लड़कियों लड़कियों के बरक्स दो रंग था सुर्ख और जर्द उन्हीं दो रंगों का परांदा आगे कंधे पे डाले दुपट्टा सर पे टिकाए वो मुस्कुराकर बहुत एतमाद तरीके से सबसे बातें कर रही थी उस एतमाद में गुरूर की झलक भी थी वो खूबसूरत नहीं थी मगर खूब सारा पैसा अपनी तराश खराश पर लुटाने के बाद अब बेहद पुरकशिश लग रही थी पहलू में बैठा उसका मामूजाद अफान आम सी शक्ल का कैनेडियन नेशनल था मगर सुनने में आया था कि ताज़ा ताज़ा बेहद अमीर हुआ था अभी ये कहानी हया ने पूरी सुनी नहीं थी वो बिल्कुल कोने में रखी एक कोने में रखी एक मेज़ के गिर्द कुर्सी पर बैठी थी वहाँ जगह जगह ऐसे ही मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे कोई और वक्त होता तो वो भी अपने सब फ्रॉक में इधर उधर खुशबाश फिर रही होती मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहीं बैठे सबको खाली खाली निगाहों से देखी गई हर तरफ लड़कियां लड़के आ जा रहे थे सना अपना कैमरा उठाए माथे पे झूला झूलता टीका संभालती इधर उधर इठलाती तस्वीरें खींचती फिर रही थी स्टेज पे सायमत आई हुई महविश को मेहंदी लगाने के बाद अब मिठाई खिला रही थी इरम भी वहीं थी उसका अनारकली फ्रॉक हल्का फिरोजी था और कभी वो दुपट्टा गर्दन में डाल लेती तो कभी सर पे कर लेती कि खवातीन और मर्दों का एक ही जगह इंतज़ाम था और ताया फरकान भी आसपास ही थे जाहिर चचा रोशन ख्याल थे तो महविश के मामों का ख़ानदान भी आज़ाद ख्याल था सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तर रखा गया था अलबत् उनके ख़ानदान के लड़के और मर्द ज़रा अलग थलग चंद मेज़ों पर बराजमान थे ताकि बराए नाम ही सही मगर पार्टीशन हो जाए ताया फुरकान और सुलेमान साहब सब वहीं ही थे वो उसी तरह बैठी परांदा आगे को डाली गैर दिलचस्पी से सबको देख रही थी उसने एक सरसरी सी निगाह में गिरदो पेश का जायजा लेकर जहान को ढूंढना चाहा था और वो उसे नजर आ भी गया था दूर मर्दों की तरफ ताया फुरकान और सुलेमान साहब के साथ कुर्सी पर बैठा आस्तीन आदतन कोहनियों तक मुड़े वो खासा ला ताल्लुक सा बैठा था यकीनन वो जी भर कर बोर हो रहा था वो तरखी से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने लगी जहां आप फातिमा महविश को मिठाई खिला रही थी साथ ही उसकी जुड़वा बहन सहरिश बैठी मुस्कुरा कर कैमरे को देखती तस्वीर बनवा रही थी उसका अनारकली फ्रॉक पिस्ताई रंग का था दोनों बहनों की शक्ल सूरत समेत सब मुख्तलिफ था मगर बदले बदले ये मगरूराना अंदाज यकसा थे सना चूंकि छोटी थी या फितरतन मुख्तलिफ थी सो उसने यह असर कबूल नहीं किया अब ऐसा भी क्या हुआ था कि वो दोनों इतनी अकड़ती फिर रही थी किससे पूछे उसके अंदर फितरी तजस्सुस जन्म लेने लगा था हया इधर बैठी हो इरम मरना फिरोजी कामदार दुपट्टा सर पे ठीक से जमाते हुए उसके साथ कुर्सी पे आ बैठी कल के निस्बत उसका रवैया कदर दोस्ताना था हाँ तुम सुनाओ थक गई हो वो भी जवाब में नरमी से बोली हाँ बस थोड़ी बहुत अच्छा वो लहजा ज़रा सरसरी बनाकर वो बोली फ़ोन फारिग होगा तुम्हारा मुझे ज़रा फिज़ा को कॉल करनी थी कुछ नोट्स का कहना था मेरा फ़ोन ख़राब है आजकल खाया हाँ, ने गहरी सांस अंदर को खींचकर खारिज की हम्म, तो इरम से उसका फ़ोन भी ले लिया गया था हाँ फ़ोन फारिग है जब चाहे ले लो मगर क्रेडिट ख़त्म है जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं है दोपहर से जफर को ढूंढ रही थी कि वो मिले तो उसको भेज कर कार्ड मंगवाऊँ उसने ताया फुरकान के कुल वक्ती कुक का नाम लिया गो कि ये सच नहीं था और क्रेडिट उसने सुबह ही डलवा लिया था मगर वो इरम को फ़ोन नहीं देना चाहती थी अच्छा इरम के चेहरे पर वाज मायूसी फैली थी अम्मा का फ़ोन फारिग होगा ले आऊं वो उठने लगी तो उसके तवक्को के ऐन मुताबिक इरम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक दिया रहने दो मैं बाद में अब्बा से ले लूंगी मेरा फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ना गया होता तो खैर तुम सुनाओ तुर्की में सब ठीक था वो बात का रुख पलट गई बस वहां की तो अब दुनिया ही बदल गई है मगर उसे छोड़ो ये बताओ महविश सहरिश के अंदाज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं उसने परांदे को हाथ से पीछे कमर पर डालते हुए हैरत का इजहार कर ही दिया आखिर दोनों कजन्स थी और कभी बहुत अच्छी दोस्तें भी हुआ करती थी दिमाग खराब हो गया इन दोनों का इरम सरगोशी में कहते हुए ज़रा करीब खिसक आई ये जो अफान साहब है ना जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं उन्होंने कनाडा में किसी रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेकर डेढ़ मिलियन डॉलर जीते हैं और उन सब की जून ही बदल गई है सुना है दोनों हनीमून पे यूरोप के टूर पे जा रहे हैं इरम के लहजे में ना हसद था ना रश्क बस वो उकताई हुई लग रही थी हम्म, तभी मैं कहूँ उसने इस्तेजाया सर झटका इरम कुछ देर मजीद बैठी फिर उठकर चली गई हया को अगर किसी ने स्टेज की तरफ बुलाया तो भी वो नहीं गई और इसरार भी किसी ने नहीं किया उसके सदमे से सब वाकिफ थे मगर उसकी दोस्त के गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था और वो किसी से ऐसी तो कर भी नहीं रही थी फिर भी दिल पे एक बोझ सा था कितनी बेहिस थी ये दुनिया कैसे लम्हों में लोग ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता सब काम जारी और सारी थे और एकदम से बिजली गायब हो गई सारी बत्तियाँ गुल हो गई हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया सिर्फ कैमरामैन के कैमरों के फ्लैश लाइट्स की रोशनी रह गई फिर मायूसी गुस्सा भरी मुजमहल सी आवाज़ें बुलंद हुई मोबाइल के टॉर्चेस ऑन हुए किसी ने भागकर बरामदे की यूपीएस की ट्यूबलाइट जलाई तो मध्यम सफ़ेद रोशनी बरामदे में फैल गई रज़ा फ़र्रुख दावर वगैरह को उनकी माओ ने आवाज़ें दी जनरेटर ऑटोमेटिक था फिर क्यों नहीं चला कोई तो जनरेटर चलाए हर तरफ उकताहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी लड़के भागकर बरामदे में आए और फारूक ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की मगर उसका इंजन मुर्दा पड़ा रहा अच्छे भले फंक्शन में बदमजगी फूसी हो गई हर तरफ बेचैनी और इस तरह बढ़ता जा रहा था हर मेज पे एक चमचमाती मोबाइल की टॉर्च जगमगा रही थी पता नहीं अब्बा नहीं चल रहा दावर भाई ने भी दो चार दफ़ा कोशिश की मगर बेसूद वो हाथ झाड़ कर मायूसी से कहते हुए खड़े हुए अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सुतूनों के पास आन खड़े हुए हया की मेज़ चूँकि बरामदे से बहुत करीब थी सो वो गर्दन मोड़ कर बैठी सब कुछ देख रही थी जाओ मैकेनिक को बुलाकर लाओ या दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो जल्दी ताया फरकान बरहमी से डांटते अपने बेटे को दौड़ा रहे थे कोई उधर भागा तो कोई इधर हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेजारी फैल गई थी वो एक कोहनी मेज पे टिकाए थोड़ी तले हथेली रखे गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखी गई जहां मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था करीब ही ताया फुरकान और सुलेमान साहब खड़े कदर मुतासिफ से आपस में कुछ कह रहे थे दफतन वो जरा चौंकी उसने जहान को बरामदे के जीने चढ़ते हुए देखा ताया फुरकान और अब्बा ने उसे नहीं देखा था वो आपस में ही मसरूफ थे वो खामोशी से ने मजीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा निचला लब दांतों से दबाए वो अब गर्दन झुकाए जायजा लेने लगा था फिर सर उठाया और मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा करीब से अफरातफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी उसने सना को आवाज़ दी वो ठटक कर रुकी उसने कुछ कहा तो सना ने ज़रा अचंभे से बाद में सर हिला दिया और अंदर चली गई चंद लम्हों बाद उसकी वापसी हुई तो छुरी पेचकस और ऐसी चंद चीज़ें उसके हाथ में थी जहान के साथ वो सब रख कर वो खुद भी वहीं खड़ी हो गई वो जनरेटर का कवर उतार रहा था तभी ताए फुरकान की निगाह उस पर पड़ी तो वो चौंके वो बगैर अपने कुर्ते की परवाह किए ज़मीन पर बैठा जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था तायफर खान की निगाहों के ताकुब में सुलेमान साहब ने भी उस तरफ देखा फ्यूल वॉल्व में कुछ फंस गया है अभी साफ हो जाएगा उसकी आवाज़ मदम मदम सी हया तक पहुंची सना बहुत हैरत बहुत मुतासर सी उसके साथ खड़ी उसके काम को देख रही थी जो बिल्कुल किसी माहिर मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारे इधर उधर कर रहा था चूंकि हर सो अंधेरा था और रोशनी सिर्फ बरामदे में थी सो बरामदे के मंजर सारे मंजर पे छाने लगा लड़कियां और रिश्तेदार खवातीन मुड़ मुड़ कर उसी तरफ देख रही थी माहौल पे छाई बेचैनी ज़रा कम हुई उसने कवर वापस डाला उसके हाथों पे कालिक लग गई थी उसके हाथों पे कालिक लग गई थी फिर उसने जनरेटर का लीवर खींचा और पीछे को हटा तो साथ ही एक झमाके से सारी बत्तियां रोशन हो गई इतनी तेज रोशनी से हया की आंखें लम्हे भर को चुंदियाई उसने बेख्तियार आंखें मीच धीरे धीरे खोला सना खुशी और तशक्कुर से कुछ कहते हुए चीज़ें उठा रही थी वो हाथ झाड़ते हुए उठ रहा था सना ने उसके हाथों की तरफ इशारा करके कुछ कहा तो वो उसी संजीदगी से सर हिलाकर अंदर चला गया सना भागकर उसके पीछे गई सुलेमान साहब जो कदरे दम से देख रहे थे ज़रा संभल कर वापस मुड़ गए वो मुतासर हुए थे और वो उस तासुर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे हया मुस्कुराहट दबाए वापस सीधी होकर बैठ गई जिस शख्स ने अंधेरों में रोशनियां बिखेरी थी उससे सभी मुतासर थे अलबत् वो जानती थी कि अब्बा ने कभी ये तो नहीं की, की होगी कि जहान यूं ज़मीन पर बैठ कर जनरेटर खोलने लग जाएगा उसके दिल में एक बेपाया फ़खर सा जागा था उसकी और यकीनन सना की भी खुद साख्ता सी खबगी अब कहीं नहीं थी मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट थी और उनके जाने के बाद घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम जब मेहमान चले गए और सिर्फ वही अपने लोग रह गए तो लॉन में खवातीन का खाना लगा दिया गया जबकि मर्दों का इंतज़ाम अंदर था मर्द हजरात और लड़के वगैरह उठकर अंदर चले गए थे लॉन अब खाली खाली सा हो गया था वो पांचों कजन्स उस वक्त स्टेज पे झूले और साथ रखी कुर्सियों पे आ बैठी थी महविश थोड़ी देर बैठी फिर मैं अब आराम करूंगी कहकर नज़ाकत से अपना फ्रॉक संभाले उठकर अंदर चली गई जिहान भाई तो बड़े कमाल के हैं सना अपनी हील्स उतार कर दुखते पैरों को हाथ से सहला रही थी मैंने तो उनसे कह भी दिया कि जहान भाई मैंने आपको पास कर दिया पहले तो हैरान हुए फिर हंस पड़े सच है आप ही आपके फियांसी हैं बड़े स्मार्ट अच्छा वो फीका सा मुस्कुरा दी उन फियांसी साहब को तो शायद खुद भी अपनी मंगनी का इलम नहीं है सुलूक देखा है उनका हया के साथ इरम जो कदरे बेजार सी बैठी थी तिनक्कर बोली और जब फर्रुख भाई मैकेनिक को ला ही रहे थे तो क्या ज़रूरत थी भरे मजमे में इलेक्ट्रिशियन बनने की लोग भी क्या सोचते होंगे तुर्की से यही सीख कर आए हैं सना के तो तलबों पे लगी सर पे भुजी इरम आपी बात सुने फरूख भाई को इलेक्ट्रिशियन लाने में पौन घंटा तो लग ही जाना था जबकि जिहान भाई ने छः सात मिनट में सारा मसला हल कर दिया और इमेज की क्या बात है लोग तो इम्प्रेस ही हुए होंगे हाँ बहुत इम्प्रेस हुए होंगे कि हमारा टर्किश कज़न बावर्ची होने के साथ साथ मैकेनिक भी है इरम बड़े तमस्कुर से हंस हंस कर उठ गई सना ने गुस्सा भरी निगाहों से गर्दन मोड़ कर उसे जाते देखा इरम आप ही बिना हर वक्त की बातें रहती हैं अच्छा जाने दो उसकी तो आदत है तुम मुझे आज की पिक्चर दिखाओ उसके बाद खाना खाएंगे उसने कहा तो सना सर हिलाती उठ खड़ी हुई वो दोनों साथ साथ चलती अंदर आई थी लाउन में सारे मर्द हजरात बैठे थे ध्यान भी उधर ही था एक सिंगल सोफे पर बैठा वो गौर से दावर भाई की बातें सुन रहा था जो वो अपने मखसूस अंदाज में बावाज़े बुलंद कुछ कह रहे थे वो दोनों तेज़ तेज़ चलती लाउंज के सिरे पर बने दरवाजे तक आई वो बाहर खड़ी रह गई जबकि सना ने धीरे से दरवाज़ा खोल कर अंदर झाँका वो महविश का कमरा था जिसके अंदर सना का कैमरा रखा था नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पर लेटी आंखों में बाजू रखे महविश नजर आ रही थी सना दबे का कदमों अंदर गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया आहट पे महविश ने बाजू हटाया क्या है सना सोने दो ना मुझे वो तिनक कर बोली सॉरी आप ही बस जा रही हूं सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई और दरवाज़ा बंद किया एक तो महविश आपी बिना वो ज़रा खफगी से कहती उसके साथ किचन की जानिब बढ़ गई एक दफ़ा फिर लाउंज से गुजरकर वो दोनों किचन में आई थी और हया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके बहुत से कज़न्स ने निगाहों का जाविया मोड़कर उसे देखा ज़रूर था अल्बत्ता वो जिसके देखने से फ़र्क पड़ता था वैसे ही दावर भाई की जाने मुतवजा था वो दोनों किचन में काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पर गुजरती तस्वीर देख रही थी जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाती आगे करती जा रही थी तभी धाड़ से दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई उन दोनों ने चौंक कर सर उठाया दावर भाई ये क्या तमाशा है वह जब्त खोकर चिल्लाने वाली महविश थी लम्हे भर को तो वो दोनों साकित रह गईं फिर एकदम से दौड़कर चौखट तक आईं लाउंज में जैसे सबको साफ सुन गया था सब शशजर से महविश को देख रहे थे जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पे हाथ रख के चिल्ला रही थी ये कौन सी जगह है तकरीरें करने की किसी को मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है कल सारा दिन मेरा पॉलर में गुजरेगा मगर आप तो मेरे सर पे चीख रहे हैं आपको आहिस्ता बोलना आता ही नहीं है हद हो गई वो पैर पटक कर वापस मुड़ी और अपने पीछे उसी धाड़ से दरवाजे बंद दरवाजे को बंद कर दिया लाउंज में एकदम मौत का सन्नाटा छाया था सबको ऐसा झटका लगा था कि बयान से बाहर था फिर एकदम से ध्यान उठा दावर रुख मुझे घर ड्रॉप कर दोगे जब मैं तुम्हें से किसी की कार ले जाऊं वो तने हुए नुकूश के साथ बहुत कतियत से पूछ रहा था उसके सवाल पर सुलेमान साहब ताया फुरकान और उनके तीनों बेटे एक झटके से उठे वो जवाब सुनने के लिए रुका नहीं तेजी से बैरूनी दरवाजे की जानब बढ़ गया वो सब उसकी माइत में बाहर निकल गए ज़रा परेशान से जाहिर चाचा और रजा भी उनके पीछे लपके महविश शापी I can't believe this Sana ने बेहद तहैर से नफ़ी में सर हिलाया उसकी आंखें डुबडुबा गई थीं हया ने अफसोस से उसे देखा और फिर खाली पड़े लाउंज को अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए हैं मुझे लगता है वो अब भी हमें चलने का कहेंगे उसी पल उसका फ़ोन बजने लगा उसने मोबाइल सामने किया अब्बा कॉलिंग बाहर पहुंचने का बुलावा आ गया था सॉरी सना उसने बेबसी से शाने उचकाए फिर उसका कंधा थपथपाया कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर जाएगा फिक्र ना करना अच्छा कहकर वो तेजी से बाहर लपकी सब सोने जा चुके थे और वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी परांदे को उलट पुलट करके देख रही थी सोनिया ने काफ़ी सख्त बांधा था गिरह खुलकर ही नहीं दे रही थी बिलाखिर परांदा छोड़कर उसने पिछाने पे झूलते टीकों को खींचने के लिए छुआ ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई उसने टीका छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को देखती उस तक आई अम्मा अब्बा तो सोने चले गए थे फिर उसने दरवाज़ा खोला सामने जहान खड़ा था सॉरी तुम सो तो नहीं गई थी वो कदरे झिझक झिझक कर बोला स्याह ट्राउज़र के ऊपर आधी आस्तीन वाली सफ़ेद टी शर्ट पहने वो वही तुर्की वाला जहान लग रहा था नहीं तुम बताओ खैरियत हाँ अभी मैं लाउंज में बैठा था तो वो फुरकान मामू की बेटी आई थी इरम उसने हर जरा हैरत से सवालिया आईब्रो उठाई हाँ वही तुम्हारा फ़ोन और पर्स मेज़ पे रखा था उसने फ़ोन उठाकर मुझसे कहा कि उसे कॉल करनी है अभी पांच मिनट में फ़ोन ला देगी मगर अब उसने कलाई पे बंदी घड़ी देखी अब बीस मिनट होने को आए हैं मगर वो वापस नहीं आई मैंने सोचा तुम्हें बता दू उफ तुमने उसे मेरा फ़ोन क्यों ले जाने दिया जवाबन जहान ने बेचारगी से शाने उचकाए उसने मुझसे इजाज़त नहीं मांगी थी और मैं उसे कैसे रोक सकता था मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही बहुत डर लगता है क्यों वो चौकी क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं वो गहरी सांस लेकर बोला तो वो बेख्तियार हंस दी और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफ़ा था जब वो यूं पूरे दिल से हंसी थी सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हमें भी आता है तुम इधर ही ठहरो मैं ज़रा इरम से फ़ोन ले आऊं और आज तो वैसे ही इरम की तरफ से उसके बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए थे अच्छा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो मुस्कुरा कर कहता सोफे पे बैठ गया और वो बाहर चली आई ताया फुरकान के लाउंज में सभी मौजूद थे सिवाय इरम और सोनिया के ताया अब्बा बहुत पुरमलाल अंदाज से रफी में सर हिलाते हुए कुछ कह रहे थे शायद आज वाले वाक्य का तस्करा जब हया को आते देखा आओ आओ बेटा उन्होंने मुस्कुराकर अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर सोनिया को आवाज़ दी सोनिया हाया की चाय भी ले आना जी अच्छा अब्बा सोनिया ने जवाबन किचन से आवाज़ लगाई नहीं ताया अब्बा मैं चाय नहीं पीऊंगी बस अब सोने ही जा रही थी वो भी तकल्लुफी से कहती ताया अब्बा के साथ सोफे पे आ बैठी उनकी घरेलू सियासतें और वक्ती तंदो की बातें और वक्ती थी की बातें एक तरफ ताया फरकान उससे प्यार बहुत करते थे और आज महविश की बदतमीज़ी पे जहाँ वो दुखी थे वहां उन्हें हया की कदर भी आई थी अब बस हो गए तुम्हारे जी कब के मैं बस ज़रा इरम से फ़ोन लेने आई थी फ़ोन क्यों ताया अब्बा बुरी तरह चौंके साइमा ताई भी ठटक कर उसे देखने लगी इरम को कोई कॉल करनी थी वो मेरा फ़ोन लेके गई थी मगर अभी मुझे अपने फ्रेंड को मैसेज करना है तो सोचा फ़ोन ले लूं वो बहुत सादगी से कह रही थी ताया के चेहरे का रंग फौरन ही बदल गया था नरमी की जगह सख्ती ने ले ली इरम इरम उन्होंने बुलंद आवाज़ में पुकारा जी अब्बा वो दुपट्टा संभालती भागती हुई आई मगर हया को बैठे देखकर उसका रंग एकदम से फक हुआ हया का फोन उसे वापस दो ताया ने उसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए बड़े जब्त से कहा जी जी वो फिजा को मैसेज करना था तो वो हकला गई ताया इतनी शोला बार निगाहों से उसे देख रहे थे कि वो रुकी नहीं उल्टे कदमों वापस मुड़ी और चंद ही लम्हों बाद फोन लाकर हया को थमाया और साथ ही कीना तोज निगाह उस पर डाली गोया कच्चा चिबा जाना चाहती हो वो जवाबन सादगी से मुस्कुरा दी थैंक यू मैं चलती हूं आप लोग चाय एंजॉय करें वो फ़ोन लेकर वहां से उठाई और वो जानती थी कि अब चाय उन्होंने खाक इंजॉय करनी थी वो वापस लाउंज में आते हुए उसने मोबाइल का लॉक चेक किया मैसेज और कॉल लॉक बिल्कुल क्लियर था सारा कॉल रिकॉर्ड गायब इरम की बच्ची उस इरम पे बेतरा गुस्सा आया कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद तमाम नंबर उसके पास महफूज थे अलबत् जब वो तुर्क फॉन रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी बीवकदर जाने से कबल तो उसके उसी पाकिस्तानी मोबाइल पर अब्दुलरहमान पाशा का फ़ोन आया था उसका नंबर उसने महफूज नहीं किया वो बस कॉल लॉग में पड़ा रह गया था अब वो मिट गया था चलो खैर उसने कौन सा कभी एआरपी को कॉल करनी थी जहां सोफे में उसी तरह बैठा था उसे आते देख कर उठ खड़ा हुआ कैसे मिला मिर्चों के इस्तेमाल से उसकी निगाहें हया के हाथ में पकड़े मोबाइल पे थी नहीं जहां शक्कर के इस्तेमाल से बात बन जाए हम वहाँ मिर्चें ज़ाया नहीं करते वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं एक कज़न बगैर पूछे फ़ोन उठा लेती है एक बहुत इज्जत से बगैर खाना खिलाए घर से निकाल देती है और एक खाना भी नहीं पूछती वो खुदाया उसने बेख्तियार माथे को छुआ तुमने खाना नहीं खाया कहाँ खाता वहाँ तो अभी लगा ही नहीं था और यहाँ घर की दोनों खवातीन ने पूछा ही नहीं वो उसकी बात मुकम्मल होने से कबल भाग कर जल्दी से किचन की तरफ आई और फ्रिज खोला आज वहाँ खाना था तो कुछ बनाया ही नहीं हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई नहीं खाता ठहरो मैं अंडे बना लेती हूँ उसे याद आया खाना तो उसने भी खाया नहीं था मगर उसे इतनी भूख नहीं थी अंडों का खाना खोला तो अंदर दो ही अंडे रखे थे उसे बेपनाह शर्मिंदगी हुई उन दो अंडों से तो कुछ नहीं बनेगा उसने खिफत कहते हुए फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दिया जहान ने जैसे उस पर अफसोस करते हुए नफ़ी में सर हिलाया तुम्हें शायद भूल गया है कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ में से एक से बात कर रही हो आराम से बैठ जाओ इधर कुर्सी पे मैं खुद बना लूंगा सब कुछ उसने अपना सिल्वर स्मार्टफोन मेज़ पे रखा और फिर आगे फ्रिज फ्रिज से कैबिनेट से हर चीज़ खोल खोल कर अला बला बाहर निकालने लगा फ्रोज़न कीमा पास्ता का पैकेट जमे मटरों का लिफाफा सॉसेस सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां चुन ली वो तमाम चीज़ें अब काउंटर पे जमा करता जा रहा था तुम उस वक्त तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे वो मुताजिब सी कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी वो अभी तक अपने सब्स फ्रॉक प्रांदे और टीके समेत बैठी थी और उसे कपड़े तब्दील करना तो बिल्कुल भूल गया था हाँ और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत मैं बहुत बुरा मानता हूँ मुस्कुराते हुए वो सब्जियां धो रहा था और तुम्हारा बुखार कैसा है अब ठीक है उसने खुद ही अपना माथा छुआ वो कल की नस्बत कदर ठंडा था वैसे मुझे हैरत जाहिद मामू और उनके बेटे पे है उस लड़की ने इतनी बदतमीज़ी की और उन्होंने से कुछ भी नहीं कहा वो वाकईतन हैरत से कहता सब्जियां कटिंग बोर्ड पर रखे खटाखट काट रहा था उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे उसकी एक दिन के बाद रुखसती है शायद वो उसका दिल बुरा नहीं करना चाहते होंगे उसने शाने उचकाए मगर उसने बहुत मिसबिहेव किया है वो अफसोस से कहता पानी उबलने के लिए रख रहा था दूसरी जानब उसने फ्राई पैन में ज़रा सा तेल गर्म होने रख दिया था असल में उसके फ्योन्सी ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में एक डेढ़ मिलियन डॉलर जीते हैं इसी पे उसका दिमाग सातवें आसमान पे है और वो ज़मीन पे बगैर दिमाग के घूम रही है वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी कैनेडियन शो में डेढ़ लाख 1.5 मिलियन डॉलर बहुत अच्छी कवर स्टोरी है उसने ज़रा सा हंसकर कर सर झटका साथ ही वो फ्राई पैन में फ्राई होती सब्जियों को बजाय गिर से हिलाने के फ्राई पैन का हैंडल हैंडल पकड़े दाएं बाएं तो कभी ऊपर नीचे हिला रहा था सब्जियां चंद इंच ऊपर को उड़ती और फिर वापस पैन में आ गिरती क्या मतलब उसने नासमझी से उसे देखा अगर किसी पाकिस्तानी ने कैनेडियन शो में इतनी खतीर रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ चुका होता मुझे तो वो लड़का शक्ल से ही क्रिमिनल लगता है ताज़ा ताज़ा आई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कवर बना रहा है और क्या अच्छा उसे ताजुब हुआ इस नहज पे तो उसने सोचा ही नहीं था अलबत् क्रिमिनल से उसे कुछ याद आया था जिहान तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो हमला हुआ था उसका कुछ पता चला नहीं वो गर्दन तिरछी किए सॉस की बोतल में पैन में उड़ेल रहा था हालांकि मेरी इस्तांबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कभी इम्कान है कि किसी और के धोखे में उन लोगों ने मेरा रेस्टोरेंट उलट दिया एक दुश्मनी तो खैर अब उसकी बन चुकी थी मगर वो तो खुद भी उससे वाकिफ नहीं था तुम तो कहते थे कि इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है खैर अब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती हैं वो चूल्हे के सामने खड़ा उसकी तरफ पुश्त किए पैन में कीमा भून रहा था खीमे और शोल शिमला मिर्च की भीनी भीनी इश्तहा गैस से महक सारे किचन में फैलने लगी थी उसकी गुम गुश्ता भूख एकदम से जाग उठी थी तुम्हें पाकिस्तान आकर कैसा लगा जिहान वो थोड़ी तले मुट्ठी रखे उसे देखती सादगी से पूछने लगी ये यहां आने के बाद उनकी पहली बाकायदा गुफ्तगु थी अच्छा लगा बल्कि बहुत अच्छा लगा मगर फुरकान मामू की बातें मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्तेदार इतनी तीखी बातें भी कर लेते होंगे उसने जैसे झिझरी लेकर सर झटका आज वो सारा दिन ताया फुरकान की कंपनी में रहा था तो ये रद्द अमल तो फितरी था वो इतने तीखे नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से बस उनके अपने नज़रियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई उन पर पूरा ना उतरे तो वो उसकी ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं व्हाटएवर एवर वो अब उबली पास्ता की पतीली में कीमा और सॉस उड़ेल रहा था फिर उनको अच्छी तरह मिक्स करके उसने उसे दम पर रख दिया और सिंक की टूटी खोलकर हाथ धोने लगा वो समझे वो उसके पास आकर बैठेगा मगर वो हाथ धोकर अब सारा फैलावा समेटने लगा था झूठे बर्तन सब्जियों के छिलके खाली शॉप पर वो जल्दी से उठी मैं कर देती हूँ प्लीज़ तुम बैठे रहो जितनी फूवर तुम हो मैं जानता हूँ अगर तुमने मेरी मदद करवाई तो दो घंटे तो लग ही जाएंगे जबकि मैं अकेला करूँ तो दो मिनट में हो जाएगा ठीक है खुद ही करो वो कदरे खबगी से कहती दोबारा बैठ गई और वाकई उसने दो तीन मिनट में हर चीज़ अपनी जगह पर रख दी चंद एक बर्तन जो पकाने के दौरान मेरे हुए थे वो धुल कर स्टैंड में लग गए और स्लेब चमका दिए गए वो बंदा कमाल का था तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो अब तो बहुत अरसा हो गया है अच्छा मैं बर्तन लगाता हूँ तुम सुलेमान मामू को बुला लाओ उन्होंने भी खाना नहीं खाया था ना अरे हाँ वो माथे पे हाथ मारती उठी फिर निगाह उसके सिल्वर स्मार्टफोन पे पड़ी जो मेज पे रखा था तुम्हें पता है डीजे को तुम्हारा फ़ोन बहुत पसंद था वो हमेशा कहती थी कि जहान से कहना जब अपना ये एक दो लाख का फ़ोन फेंकना हो तो सबानजी के बाहर फेंके वो उदासी से मुस्कुरा कर बोली तो वो हंस दिया वैसे ये उसके लगाए गए तखमीने से कहीं ज़्यादा महंगा है अच्छा उसे ज़रा हैरत हुई इतना कीमती फ़ोन क्यों ख़रीदा तुमने ख़रीदा नहीं था गिफ्ट मिला था स्पेशल गिफ्ट वो मुस्कुरा कर जैसे कुछ याद करके बोला किसने दिया था सम वन स्पेशल अच्छा जाओ अभी मामू को बुला लाओ वो टाल गया तो वो शाने उचकाती वहां से चली आई अब्बा का दरवाज़ा बजाकर वहीं से बुलाकर वो वापस लाउंज में आई तो वहां मेज़ पे प्लेट में और ग्लास रखा था वो बड़े सोफे पे बैठी और रिमोट उठाकर टीवी चला दी जिस वक्त अब्बा ज़रा हैरान से बाहर आए जहान पास्ता की डिश उठाए किचन से निकल रहा था और वो मज़े से अपने कामदार जोड़े में टांग पे टांग रखे बैठी चैनल बदल रही थी अब्बा उनको देखकर जल्दी से उठी और जिहान के हाथ से ट्रे ली सॉरी मामू हमने आपको उठा दिया आपने खाना नहीं खाया था सो अधूरा छोड़कर उसने उनकी तरफ प्लेट बढ़ाई थैंक यू अब्बा ने कदरे नासमझी से खाने को देखा और फिर हया को ये तुमने बनाया है नहीं जिहान ने वो मुस्कुराहट दबा गई वैसे मामू ये इटालियन रेसिपी नहीं है ज़रा देसी स्टाइल में बनाया है जैसे मम्मी बनाती हैं आपको पास्ता में कीमा पसंद है ना मम्मी ने बताया था मुझे सुलेमान साहब चौंक कर उसे देखने लगे उसको दिल तोड़ने का फन आता था तो टूटे हुए दिलों को जोड़ कर उन्हें जीतने का फन भी आता था वो अपनी जगह बैठी रह गई उसे अब एहसास हुआ था कि वो रफ और टफ सा बंदा खुद भी भूखा सो जाता मगर रात के एक बजे अगर उसने इतना एहतमाम किया था तो सिर्फ और सिर्फ अब्बा के लिए क्योंकि उसे याद था कि अब्बा ने खाना नहीं खाया और उसे शायद एहसास हो गया था कि वो उससे ज़रा खींचे खींचे से रहते हैं और हाया को खूब खुद अब जाके याद आया था कि कीमा वाला पास्ता अब्बा का पसंदीदा था वो जानती थी कि उस अमल से जहान ने अपने और अब्बा के दरमियान हायल बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश की थी पास्ता बहुत मज़े का था मुंह में जाते ही घुल जाने वाला सुलेमान साहब ने तारीफ नहीं की मगर उनके चेहरे से जाहिर था कि उन्हें अपना यूं ख्याल किया जाना अच्छा लगा था वो खुद भी बहुत शौक से खा रही थी डीजे के बाद ये पहला खाना था जो उसने दिल से खाया था कोनिया में दो लड़कियों का अगवा टीवी स्क्रीन पे बीबीसी चल रहा था और जो खबर न्यूज कास्टर ने पढ़ी उस पे उन तीनों ने चौंक कर सर उठाया कोनिया तुर्की का शहर था जलालुद्दीन रूमी का शहर जिहान ने बिजली की तेजी से रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया क्या कहा उसने कोनिया अब्बा जो हाथ रोक कर स्क्रीन को देखने लगे थे चैनल तब्दील होने पर उलझ कर जिहान को देखा वो सादगी से मुस्कुरा दिया नहीं कोनिया नहीं उसने कहा था कीनिया और लेना आप वो रिमोट एक तरफ रख कर उन्हें फिर से सर्व करने लगा अब्बा ने ज़रा तजब्जुब से सर हिलाया गोया वो अपनी समाज के धोखा देने पे उलझे हुए थे हया ने जिहान को देखा और जिहान ने उसे फिर दोनों जेर लब मुस्कुरा दिए अभी वो अब्बा के सामने तुर्की का इमेज सबोताज होता देखने के मुतहमल नहीं थे